राष्ट्रपति की बात है राष्ट्रपति जी को जिसे मिलने वाली एक पद यात्री पर हटा है राष्ट्रपति और इस वजह से समझना लीजिए भाई ठीक कही डॉक्टर आगे हम ईशावास्यमिदं सर्वं किञ्च जगत् जो इदम से लेकर प्रदीप पर्यंत सर्वम सब जगत्या प्राप्त होने योग्य सृष्टि में जगत चर प्राणी ईशा संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा से वास्यम आचरण करने योग्य अर्थात सब और से व्याप्त होने योग्य है प्रेरणा उस से प्रेरणा त्याग किए हुए जगत से उज्जीधा पद और फल के भोगने का अनुभव कर किंचा किंतु सत्य किसी से भी किसी के भी धनम वस्तु मात्र भी मां मात्र गृहा अभिलाषा कर जो मनुष्य ईश्वर से करते हैं कि यह हमको सदा सर्वो से देवता देखता है यह जगत ईश्वर से व्याप्त और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है इस प्रकार व्यापक में परमात्मा का निश्चय करके भी अन्याय से अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते वे परमात्मा होकर इस लोग के शुद्ध और लोग में मुक्ति रूप सुख को प्राप्त करके सदा आनंद में रहे के जीवन में और लौकिक व्यक्तियों के जीवन में इन वेद की बातों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है यह जानना है वेद मंत्र में एक बात कही ईशान वाष्यम इदम सर्वम ईश कहते हैं ऐश्वर्यशाली को ऐश्वर्य शब्द से हम समझ में आएगा ऐश्वर्य ईश्वर में अनंत बल है ईश्वर में अनंत ज्ञान है ईश्वर में अनंत आनंद है ईश्वर में अनंत क्रिया है सुनो ईश्वर ऐश्वर्यशाली है अब हम क्या समझे ईश्वर में अनंत बल है ईश्वर में अनंत ज्ञान है ईश्वर में अनंत आनंद है ईश्वर में अनंत क्रिया है सूत्र रूप में ये महामुनि बातों को देखते हैं तो वो बहुत बड़ा गुणों का समुदाय उनमें संग्रहित हो जाता है और व्यक्ति थोड़े शब्दों में ईश्वर के स्वरूप को समझ लेता है अब जब व्यक्ति ये समझता है ईश्वर में अनंत बल है तो ईश्वर से जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता अनंत बल जानने पर वह ईश्वर से प्रभावित होता है अच्छा आपसे मैं पूछूं आप हृदय से बताना सिद्धांत के रूप में नहीं कि यहां पर भगवान भया हुआ है उसमें अनंत बल है आपके जन शक्ति है आप प्राय कहेंगे क्यों माताओं के जन शक्ति तो आप बताओ हृदय खाली पड़ा वो अंतकरण को तो देखो अपने मन में जब तक बात नहीं बैठती उस बात का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता मन में एक बात बैठ गई शत प्रतिशत तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है शरीर मन इंद्रियां आत्मा सब प्रभावित होती ये जानना पड़ेगा आपको ये मानना पड़ेगा आपको ये जितना स्थान दिखाई देता और नहीं देता इसमें सब में ईश्वर मान है जिसमें की अनंत बल है भौतिक चीजों में तो बल की प्रतीति होती है तूफान देखो भूकंप देखो समुद्र का तूफान देखो आप सभी देखते सुनते जानते तूफान आता है अथवा भूकंप आता है वो उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था हम रुड़की में थे इतनी दूरी पर कैसे घरों में फंपन खिड़कियों में खटखटाहट कैसे शक्ति कितनी शक्ति होगी भूकंप में कल्पना कीजिए वो 400-500 किलोमीटर तक भूमि का हिलना कितनी शक्ति पर निर्भर है कल्पना करके देखो उत्तरकाशी में भूकंप आता है मुख्य केंद्र वहां है और दिल्ली के अंदर कंपन हो रहा है कितनी शक्ति होगी भूकंप में भूमि में कितनी शक्ति है तूफान में देखिए समुद्र में जब भयंकर तूफान आता है और जिस झाग को हम किनारे पर फिरा देखते हैं वो आकाश प्रकार से कितना लंबा लोहे से लथपथ है और उस इतने बड़े झाज को पत्ते की तरह उड़ा के डबों में खत्म कर देता है सूर्य की शक्ति को देखो वायु की शक्ति को देखो दूर जो घूमता हुआ चक्कर चलता है दिल्ली में थोड़े से केंद्र में आया और उसने बताते स्कूटरों को भी उठा के फेंक दिया बसों को उछल दिया दीवारों को मैंने देखा दीवारों को तोड़ डाला पूरे लंबे पेड़ हम्म, उखाड़ कर आप कल्पना कीजिए ये इतना प्रभाव है वायु का जल का पृथ्वी का अग्नि का पर ईश्वर का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं है और इनसे सबसे प्रभावित है व्यक्ति इनके मूल्य को जानता है व्यक्ति इनके लिए ये से चोटी का जोर लगाता है व्यक्ति इनसे उपयोग लेने के लिए जीवन खपाता है व्यक्ति इनसे बचने के लिए भी संबंध से प्रयासशील है पर आप इस ओर देखो ईश्वर नाम की चीज में भी इतना बल है और आप आगे बढ़िए वेद के आधार पर और ऋषियों के कथन के आधार पर उपनिषदों के आधार पर याद रखना कि ये पृथ्वी ये समुद्र ये सूर्य ये अरबों लोक लोकांतर परमात्मा के बिना तक से मत नहीं है इतनी शक्ति सूरत है तुलना तो की ये तो ईमानी भूतानी जायंते ये न जातानी जीवंती इसलिए कहता है व्यक्ति सुन समझ ये तो आईमानी भूतानी जायते ये सारा शरीर लोक लोकांतर पृथ्वी जलवायु आकाश और को लोक लोकांतर जिसके द्वारा पैदा किए जाते हैं जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसके सहारे से जीते हैं तब उत्पन्न होते हैं और जीते भी उसमें कितना बल होगा कल्पना वैज्ञानिकों की खोज पर देखो तो रंगते खड़े हो जाए वैज्ञानिक लोग कितने लंबी चीज सुनाते हैं ये सूर्य जैसा हमको दिख रहा ये एक सूर्य है एक सूर्य का परिवार है ये लगभग पंद्रह किलोमीटर हाँ, करोड़ किलोमीटर की दूरी पर और ऐसे ऐसे सूर्य जो इन्होंने खोजे हैं अब तक अंतिमो दिन ही कौन जिनको नहीं मिली कहां देखें एक आकाश गंगा में दस अरब ऐसे सूर्य हैं उसका परिवार भी होगा अपना उस एक सूर्य का परिवार पृथ्वी ग्रह उपग्रह परिवार होता है सूर्य का वो एक सूर्य का परिवार होगा और ऐसे ऐसे दस अरब आकाश गंगा एक आकाश गंगा में दस अरब सूर्य और ऐसे ऐसे दस अरब आकाश गंगा खोज डाली ये इन्होंने जानकारी प्राप्त की और आगे आगे ये कहते हैं हमारे पास में ये अंतर नहीं आगे खोज के ये करें कहां तक खोजें इस संसार को बनाता है कितनी शक्ति होगी कितना ज्ञान होगा कितनी क्रियाएं करता होगा वो और ये मैं जाता जीवन की ये संसार जी रहा है हम भी जी रहे हैं आप अपनी शक्ति थोड़ी सी रखते हैं हमारा एक एक सांस आता है शरीर में क्रियाएं चल रही हैं बराबर लगातार पूरे शरीर पूरी व्यवस्था जीव की सहायता बहुत थोड़ी है जीव का बल आत्माभिमान तो होता होगा मैं इतना बलवान हूँ इतना शरीर से तगड़ा हूँ इतना मेरे पास में धन है इतना मैं पीएचडी एम ए हूँ होता होगा ना बोले आप कभी कसौटी से करके देखे तो आप चौपट हो जाओगे आपके पास में कुछ नहीं है आप तो खाम खा स्वामी बन बैठे इन चीजों का ईशावास्य है ईश ऐश्वर्यशाली का है संसार तो ये जानना है कि ईश्वर में ऐश्वर्य कितना है बल की दृष्टि से देखो और ज्ञान की दृष्टि से देखो और आनंद की दृष्टि से देखो और क्रियाओं की दृष्टि से ये मैं सूत्र रूप में भाषा में बोला एक एक को व्याख्या करे तो कई से तक एक एक घंटा सुनते देगा तब ये पूरी नहीं होता तो ध्यान देना आप जिसमें अनंत बल है जिसमें अनंत ज्ञान है अंत नहीं है और जिसमें अनंत आनंद है और जिसमें अनंत क्रिया है उससे ये संसार जो है आच्छादित है ईशावास बस जो व्यक्ति भगवान को ऐसे समझता है बस ध्यान में कैसे काम आएगी ये बात अब छोड़ जोड़ो व्यवहार में तो काम में कैसे आती है ध्यान देना व्यक्ति साक्षात व्यक्ति से डरता है चौकीदार से डरता है सिपाही से डरता है थानेदार से डरता है हौलदार से डरता है मंत्री से डरता है राष्ट्रपति से डरता है सेनाध्यक्ष से डरता है पर भगवान से नहीं करता अच्छा एक एक एक बीच में रोचक बात सुनाऊंगी वो इसलिए सुनाऊंगा गंभीरता में कभी कभी रोचकता में आए तो जो बीज सोने लगता है उग जाता है अगर लौकिक व्यक्ति को रस नहीं आता इसलिए उसको रोचक बनाने में रोचक बना के हमें कुछ ए, और कुछ नहीं लेना रुचि उत्पन्न करना भी एक विभाग है किसी विद्या का एक व्यक्ति से हमने पूछा कि भाई सच बोलना आप अपनी पत्नी से अधिक डरते हो या भगवान उसने उत्तर दिया साधक ने मैं अपनी पत्नी से अधिक डरता हूं भगवान से इतना आप देखेंगे अब रोचक बात होती हुई शिक्षण देती है क्या सचमुच हम दूसरे से तो डरते हैं और भगवान से ऐसी बात तो नहीं है यदि भगवान से आप डरते हैं तो मन में जो बुराई उभरती है काम क्रोध लोभ मोह उससे हम सतत बचते रहे कभी देखना राजा भी पाप से बचाता है न्यायकारी राजा न्यायकारी समाज भी व्यक्ति को पाप से बचाता है न्यायकारी परिवार भी व्यक्ति को पाप से बचाता है न्यायकारी गुरु भी व्यक्ति को पाप से बचाता है न्यायकारी जो है अपना साथी भी हमको बचाता सब बचाते हैं पर एक ऐसा पाप है जिससे ये बाहर के लोग नहीं बचा पाते मानसिक पाप न राजा उससे हमको रोक सकता न गुरुजी रोक सकते न माता रोक सकती न समाज रोक सकता न मित्र रोक सकता कि मन में जो पाप उभरता है उसको सर्वव्यापक ईश्वर को स्वीकार करने से रोका जा सकता अब समय हमारा ग्राम की ओर है तो ईशावास्यम इदम सर्वम ये सारा जगत ईश्वर से भरा हुआ है ध्यान में जब कभी भी ध्यान में मन रोकना हो तो एक सिद्धांत को याद रखना ईश्वर को व्यापक और जीवों को और प्रकृति विकृति को व्याप्त ये सिद्धांत दिमाग में बैठा क्या समझ में आया ध्यान में मन ध्यान अवस्था में मन को रोकने का उपाय ईश्वर को व्यापक आत्मा स्वयं को सभी आत्माओं को और प्रकृति प्रकृति से बने जगत को सबको व्याप्त लोहे के गोले में जैसे अग्नि व्यापक और लोहे का गोला व्याप्ति और ये भी तीनों काल में एक में नहीं जो संसार नहीं बना था तब भी ईश्वर व्यापक था प्रकृति और जीव चुपचाप नहीं बैठना क्या जी हाँ रोटी खाओ और पड़े रहो सोल के रोटी ऐसे काम नहीं करने वाला है परिश्रम करना पड़ेगा या तो रहोगे या भागोगे ऐसे नहीं बैठ सकते ये समय इतना थोड़ा मूल्य नहीं रखता हमारा ये विश्व की ईश्वर की देन ईश्वर की संपत्ति है तो आपने समझा कि ये जो प्रलय अवस्था थी तब भी यही अवस्था थी ईश्वर की याद रखना ईश्वर व्यापक था सत्व रजतम कारण व्याप्य थे हम जीवात्मा एक मूर्छित अवस्था में हम जाते थे और संसार बन के खड़ा हुआ ईश्वर ने संसार को बनाया आज भी ईश्वर जैसा का तैसा व्यापक है और हमें व्यापी है आने वाले समय में संसार पढ़ने को प्राप्त हो जाएगा तब भी ईश्वर वैसा का वैसा व्यापक व्यापक तीनों काल में जो व्यापी व्यापक का संबंध है वो ईश्वर मन को रोकने में कैसे उपयोग में आता है ध्यान दें मन जाएगा कहां ईश्वर को छोड़ के बताओ तीनों काल में नहीं जा सकता तो ये सारा संसार ईश्वर से भरा हुआ है आप चलते फिरते खाते पीते ईश्वर को मानना और देखना मेरे मन में होने वाली बुराई अच्छाई को वाणी से होने वाली अच्छाई बुराई को शरीर से होने वाले अच्छे बुरे कर्म को देखने जानने वाला न्यायकारी मेरे साथ उपस्थित है इसलिए मन वाणी शरीर से बुराई नहीं होने देनी अच्छाई करनी और ये सारा संसार जिसमें व्यापक है उसने हमको बहुत कुछ दिया है धन संपत्ति उसने कहा उसका भोग उपयोग करो पर क्या पूर्व भोग करो तेने तेरे भूंगी आप खीर खाएंगे कभी सीरा खाएंगे कभी पर त्याग पूर्वक नहीं खाओगे तो डेढ़ा दुगुना खा जाओगे और भाई शरीर को आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ बलवान बनाना है तो त्याग पूर्वक ईश्वर का दिया हुआ है हम इसको राग पूर्वक नहीं खाएंगे त्यागपूर्वक पूर्वक खाएंगे तो उचित मात्रा में खाएंगे नहीं तो रोगी हो जाओगे आप और फिर दर्द लगेंगे फिर बीमार हो जाओगे तो तेरे देखते ने भूंजी था अगली बात कही मां वृद्धा कसरती धनम किसी के धन को अन्याय से लेने की इच्छा कभी नहीं करना अब विराम